का कोई एहसान नहीं है जिसका बदला उसे देना हो वो तो सिर्फ अपने महान रब की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए ये काम करता है और जरूर वो उससे प्रसन्न होगा